दोस्तों जय हिंद हम्म तो भाई आज हम तुम्हें एक मजेदार गीत सिखा रहे हैं हम्म सीखोगे ना दोस्तों अच्छा तो भाई गीत सीखने से पहले तुम ये गीत तो सुनो बूढ़ी अम्मा खीर पकाओ बूढ़ी अम्मा खीर पकाओ हमें खिलाओ हमें खिलाओ बूढ़ी अम्मा खीर पकाओ बूढ़ी अम्मा खीर पकाओ चावल दाल उबालो लाकर चावल दाल उबालो लाकर लाओ सब्जी तनिक पकाकर लाओ सब्जी तनिक पकाकर थाली में फिर इन्हें सजा कर थाली में फिर इन्हें सजा कर बस ऐसे ही हमें खिलाओ बस ऐसे ही हमें खिलाओ बूढ़ी अम्मा फिर पकाओ बूढ़ी अम्मा फिर पकाओ हमें खिलाओ हमें खिलाओ हमें खिलाओ हमें खिलाओ बूढ़ी अम्मा फिर पकाओ दाल उबालो बाटी सेको दाल उबालो बाटी सेको भुट्टा आगे भून के फेंको भुट्टा आगे भून के फेंको हम खाएं तुम बैठ के देखो हम खाएं तुम बैठ के देखो बस बस ऐसे हमें खिलाओ बस बस ऐसे हमें खिलाओ बूढ़ी अम्मा खीर पकाओ बूढ़ी अम्मा खीर पकाओ हमें खिलाओ हमें खिलाओ बूढ़ी अम्मा खीर पकाओ बूढ़ी अम्मा खीर पकाओ पूरी और कचौड़ी तल दो पूरी और कचौड़ी तल दो उसके ऊपर हलवा मल दो उसके ऊपर हलवा मल दो उसको मोड़ के दो दो बल दो उसको मोड़ के दो दो बल दो बस ऐसे ही हमें खिलाओ बस ऐसे ही हमें खिलाओ बूढ़ी अम्मा फिर पकाओ बूढ़ी अम्मा फिर पकाओ हमें खिलाओ हमें खिलाओ बूढ़ी अम्मा खीर पकाओ बूढ़ी अम्मा खीर पकाओ बूढ़ी खीर पकाओ बूढ़ी अम्मा खीर पकाओ खीर पकाओ बूढ़ी अम्मा खीर पकाओ हमें खिलाओ हमें खिलाओ हम्म तो दोस्तों तुमने गीत तो सुन लिया और आओ अब हम इस गीत के शब्दों को याद करते हैं दोस्तों पहले मैं बोलूंगा और मेरे बाद तुम सब बोलना लेकिन हां भाई एक साथ और जोर से तो तैयार हम्म, दोस्तों जी हां तो कहो जी हां ऐसे तो बोलो बूढ़ी अम्मा खीर पकाओ बूढ़ी अम्मा खीर पकाओ हमें खिलाओ हमें खिलाओ हमें खिलाओ हमें खिलाओ साथ साथ बोलो दोस्तों चावल दाल उबालो लाकर चावल दाल उबालो लाकर लाओ सब्जी तनिक पकाकर हम्म लाओ सब्जी तनिक पकाकर थाली में फिर इन्हें सजाकर थाली में फिर इन्हें सजाकर बस ऐसे ही हमें खिलाओ बूढ़ी अम्मा खीर पकाओ और आओ दोस्तों अब इन्हीं शब्दों को गाकर सीखते हैं दोस्तों दीदी तुम्हें गाकर सुनाएंगी और जैसे दीदी गाएं वैसे ही तुम्हें भी गाना पड़ेगा हम्म तो आइए दीदी बूढ़ी अम्मा खीर पकाओ बूढ़ी अम्मा खीर पकाओ बूढ़ी अम्मा खीर पकाओ बूढ़ी अम्मा खीर पकाओ हमें खिलाओ हमें खिलाओ हमें खिलाओ हमें खिलाओ बूढ़ी अम्मा खीर पकाओ बूढ़ी अम्मा खीर पकाओ चावल दाल उबालो लाकर चावल दाल उबालो लाकर लाओ सब्जी तनिक पकाकर लाओ सब्जी तनिक पकाकर थाली में फिर इन्हें सजाकर थाली में फिर इन्हें सजाकर बस ऐसे ही हमें खिलाओ बस ऐसे ही हमें खिलाओ बूढ़ी अम्मा खीर पकाओ बूढ़ी अम्मा खीर पकाओ और आओ दोस्तों अब इस गीत को आगे बढ़ाते हैं बोलो बूढ़ी अम्मा खीर पकाओ दोस्तों एक साथ बोलो ना हम्म हमें खिलाओ हमें खिलाओ दाल उबालो बाटी सेको दाल उबालो बाटी सेको भुट्टा आगे भून के फेंको भुट्टा आगे भून के फेंको हम खाएं तुम बैठ के देखो हम खाएं तुम बैठ के देखो बस ऐसे ही हमें खिलाओ बूढ़ी अम्मा खीर पकाओ हम्म तो दोस्तों आओ अब इसे गाकर याद करते हैं हम्म दीदी के साथ दाल उबालो बाटी सेको दाल उबालो बाटी सेको भुट्टा आगे भून के फेंको भुट्टा आगे भून के फेंको हम खाएं तुम बैठ के देखो हम खाएं तुम बैठ के देखो बस ऐसे ही हमें खिलाओ बस ऐसे ही हमें खिलाओ दाल उबालो बाटी सेको दाल उबालो बाटी सेको भुट्टा आगे भून के फेंको भुट्टा आगे भून के फेंको हम खाएं तुम बैठ के देखो हम खाएं तुम बैठ के देखो बस ऐसे ही हमें खिलाओ बस ऐसे ही हमें खिलाओ बूढ़ी अम्मा खीर पकाओ पूरी अम्मा खीर पकाओ और आओ दोस्तों अब इस गीत को और आगे याद करें बोलो फिर लेकिन एक साथ हा बूढ़ी अम्मा खीर पकाओ हमें खिलाओ हमें खिलाओ पूड़ी और कचौड़ी तल दो पूड़ी और कचौड़ी तल दो उसके ऊपर हलवा मल दो उसके ऊपर हलवा मल दो उसको मोड़ के दो दो बल दो उसको मोड़ के दो दो बल दो बस ऐसे ही हमें खिलाओ बूढ़ी अम्मा खीर पकाओ और लो दोस्तों अब इसी गीत को आगे गा कर सीखो आइए दीदी पूरी और कचौड़ी तल दो पूरी और कचौड़ी तल दो उसके ऊपर हलवा मल दो उसके ऊपर हलवा मल दो पूरी और कचौड़ी तल दो पूरी और कचौड़ी तल दो उसके ऊपर हलवा मल दो उसके ऊपर हलवा मल दो उसको मोड़ के दो दो बल दो उसको मोड़ के दो दो बल दो उसको मोड़ के दो दो बल दो उसको मोड़ के दो दो बल दो बस ऐसे ही हमें खिलाओ बस ऐसे ही हमें खिलाओ बूढ़ी अम्मा खीर पकाओ बूढ़ी अम्मा खीर पकाओ हमें खिलाओ हमें खिलाओ हमें खिलाओ हमें खिलाओ बूढ़ी अम्मा खीर पकाओ बूढ़ी अम्मा खीर पकाओ हमें खिलाओ हमें खिलाओ हमें खिलाओ हमें खिलाओ तो दोस्तों तुमने आज ये गीत सीखा बूढ़ी अम्मा खीर पकाओ और आओ एक बार फिर से ये सारा गीत सुन ले बूढ़ी अम्मा खीर पकाओ बूढ़ी अम्मा खीर पकाओ हमें खिलाओ हमें खिलाओ बूढ़ी अम्मा खीर पकाओ बूढ़ी अम्मा खीर पकाओ चावल दाल उबालो लाकर चावल दाल उबालो लाकर लाओ सब्जी तनिक पकाकर लाओ सब्जी तनिक पकाकर थाली में फिर इन्हें सजाकर थाली में फिर इन्हें सजाकर बस ऐसे ही हमें खिलाओ बस ऐसे ही हमें खिलाओ बूढ़ी अम्मा फिर पकाओ बूढ़ी अम्मा खीर पकाओ हमें खिलाओ हमें खिलाओ हमें खिलाओ हमें खिलाओ बूढ़ी अम्मा खीर पकाओ दाल उबालो बाटी सेको दाल उबालो के देखो हम खाएं तुम बैठ के देखो बस बस ऐसे हमें खिलाओ बस बस ऐसे हमें खिलाओ बूढ़ी अम्मा खीर पकाओ बूढ़ी अम्मा खीर पकाओ हमें खिलाओ हमें खिलाओ बूढ़ी अम्मा खीर पकाओ बूढ़ी अम्मा खीर पकाओ कचौड़ी तल दो पूरी और कचौड़ी तल दो उसके ऊपर हलवा मल दो उसके ऊपर हलवा मल दो उसको मोड़ के दो दो बल दो उसको मोड़ के दो दो बल दो बस ऐसे ही हमें खिलाओ बस ऐसे ही हमें खिलाओ बूढ़ी अम्मा फिर पकाओ बूढ़ी अम्मा खीर पकाओ हमें खिलाओ हमें खिलाओ बूढ़ी अम्मा खीर पकाओ बूढ़ी अम्मा खीर पकाओ बूढ़ी अम्मा खीर पकाओ